अपनी उपलब्धियां सुनाई परमात्मा संत और दानधार है पुरुष समय विज्ञान कहा फिर उसी को ने कहा है पराक्रम संस्कृत भाषा सर्वे निवेशा नेत आदि कला का शादी काल जब विशेषेण पुरुषार्थ पूर्णार्थ जीवो अभी न विशेष इम परमात्मा ऊर्धम सुकृतम न तिरियम चम तिरियम स्थितम अवस्थम व न मध्य परि सर्वतः जल जगत युनाती पदार्थ आर्यभाषा ये मनुष्य जिस विद्युतः विशेषकर प्रकाशवान पुरुषा पूर्ण परमात्मा से सर्वे सब निमिता कलाकाष्ठा आदि काल के अवय अधिक जबकिरे अधिकतर उत्पन्न होते हैं एवं उन परमात्मा को कोई भी न न ऊर्धम ऊपर न न तेयम तेसा सब दिशाओं में हुआ नीचे और न न मध्य बीच में परिजंगवन सब ओर से ग्रहण कर सकता है उसको सुनते हो भावा से मनुष्य जिसके रखने से सब काल के अवैध उत्पन्न हुए और जो ऊपर नीचे बीच में पीछे दूर समीप कहा नहीं जा सकता जो सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म है उसको युवाभ्यास से जान के सब आप लोग उपासना करो इसी वेद स्वाम है माताओं वेद के आधार पर ईश्वर का न्याय करते इस मंत्र में कहा गया कि छोटे से छोटे काल की बड़े काल की व्यवस्था ईश्वर ने की है ये प्रातः काल साय काल सेकेंड मिनट आदि काल की स्थिति बनाने में ईश्वर काल है जिसने ये व्यवस्था की है वहां गुरुकुल है और उस ज्ञान स्वरूप को यह शिक्षा के ध्यान रखा और ईश्वर के विषय में अनेक का जानने से व्यक्ति निर्भर कैसे होता है कैसे भी होता है ईश्वर को एक बाई ओर से देखना चाहता है अथवा दाई ओर से देखना चाहता है ईश्वर को ऊपर से देखना चाहता है चंद्रमा की ओर से भूमि को नीचे देखते हैं जब भूमि पर ऊपर गिरता तो चंद्रमा को ऊपर की ओर देखते हैं जब सूर्य इस ओर चलता है तो हम इस ओर से देखते हैं जब ऊपर जाता है तो नीचे से देखते हैं जब यहां होता है तो उसको ऊपर देखते हैं जो व्यक्ति परमात्मा को इस दृष्टि से देखना चाहेगा वो ईश्वर को नहीं देखेगा ज्ञापन निवास मूर्ति बनाई जाती है उसको लोग सामने से देखते हैं मूर्ति देखते हैं कि वो परमात्मा है और उसको नमस्ते भी करते हैं के मूल ईश्वर से ही देखते हैं वहां ईश्वर सातवें समान वाले सातवें समान वाला ऊपर को देखते हैं चौथे समान वाले ऊपर को देखते हैं और नीचे मानने वाले नीचे की ओर देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से ईश्वर को देखने वाला व्यक्ति कभी ईश्वर को देख नहीं देखने की कोशिश करने वाला व्यक्ति बाई ओर से देखे दाई ओर से देखे ऊपर की ओर से देखे नीचे की ये मेरे सामने धनी अंतर है मैं इसको सामने देख रहा हूं एक ओर अब इस ओर देख रहा हूं इस ओर तो नहीं देख रहा इस ओर देख रहा हूं इस ओर नहीं देख रहा अब मैं ऊपर को देख रहा हूं नीचे की ओर देखूंगा ऊपर की ओर नहीं देखूंगा अब जब मैं नीचे से देखूंगा तो इसको ऊपर की ओर से देखूंगा अब बाय से देखना गाय से देखना ऊपर से देखना नीचे से देखना ये प्रक्रिया ये पद्धति ईश्वर के देखने में भी फर्क ईश्वर को ऐसे नहीं देखा जाता अब साधक लोग ध्यान रखें अब आपके काम मान लीजिए जब वो साधक बैठते हैं वस्तुतः सुनी हुई बातें कही हुई बातें या पौराणिक संस्कार आते हैं अथवा ज्ञान की न्यूनता के कारण जब ध्यान में बैठता है व्यक्ति तो प्राय वो ये सोचता है कि ईश्वर दूर है और इस भाषा का प्रयोग करता है वह परमात्मा सर्वदा है वह परमात्मा सर्वज्ञ है है परमात्मा आनंद स्वरूप है वो परमात्मा जो को देख गया है वो परमात्मा निकाली है और अपने आप खाली है परमात्मा है साधकों की स्थिति प्राय है ही या नहीं होती चंद्र के लिए भाषा के प्रवाह के कारण व्यक्ति उसका उचित अर्थ नहीं समझ पाता एक जैसी वस्तुओं को हम बोलते हैं वह दिल्ली अहमदाबाद से इतनी दूरी सो है वह कलकत्ता अहमदाबाद से इतनी दूरी सिंधु है वो चंद्रमा भूमि से वह चंद्रमा इतनी दूर है वह ध्रुव तारा इतनी दूर है इसका क्या हुआ इससे उसका दिमाग मनाया है कि वह काल है दूर वाला और इन शब्दों का जब प्रयोग होता है तो इसका दिमाग भर गया कि भय कहते कहते और ये जानने लगा कि भय का अर्थ ईश्वर हमसे बहुत दूर रहा है और हमको संबोध नहीं कर रहे तो इसका हुआ ऊपर है परमात्मा ऐसा जानने की बात सोचता है ऐसा व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान सकता नीचे है परमात्मा आपने सुना होगा प्रार्थना करते हुए कहते हैं हे भगवान तू तो समुद्र की तह में तलहटी में विद्यमान है जब व्यक्ति क्या सोचता है परमात्मा समुद्र की तलहटी में विद्यमान है और तो उस पर नहीं है अगर फिर उसने बोला ओम प्राचीन गति अधिपति रहती तो ये सूर्य उदय होता है आप वो परमात्मा वहां विद्यमान है जहां सूर्य उदय होता है वो परमात्मा फिर दक्षिणा वो परमात्मा दक्षिण भारत के में विद्यमान है उन्हीं की में कौन सा देश है हम्म? जो भी पढ़ता हो उसी चीज दिन प्योर नीचे की ओर और ऊपर की ओर और अपने आप खाली कर सभी दिशाओं में ये ध्यान दिया और स्वर्ण को छोड़ दिया अच्छा कई बार व्यक्ति क्या करता है इन बारी की तारीख को कीजिए मदद खाता करना मिली आज इसने यानी ये वहां मिली भूत से या ऐसा मिली और जब बीमारी खोलने का समय आया तो वह चालीस को खाने मिलता है कीजिए मुझे मिलता है और इतना ही नहीं कई बार तो आत्मा तो ताली ले लेगा वो आत्मा भाई मेरी ताली देखी क्या एक बड़ी मुझे कथा सुनते हैं ऐसा हो नहीं सकता है और कल्पना भी की जाती है एक व्यक्ति के कई बच्चे और वो ध्यान देने लगा एक ही तो हो एक तो चल रहा होगा एक ही वो उंगली पकड़ रहा है और एक को कम देना बढ़ा दिया होगा लगा हल्का फुल्का बच्चा और अभ्यास होगा ध्यान भी याद भी नहीं रहता है छोटी चीज का बाहर भी वो स्वाभाविक बन जाता उनको देखने लगा एक बच्चा तो मेरा ये चल रहा एक ही मैं उंगली पकड़ रहा हूं वो तीसरा कहां चला गया और तीसरा बालक का चला गया उन्होंने कहा भाई का पिटवाओ क्या क्या पिटवा मेरा एक बालक तो ये है एक ये है और तीसरा किया गया ये कौन सा बैठा अच्छा <laughs> ये ये कंधे पर बैठा ये ये तीसरा हाँ हाँ ये ठीक है खुदा नहीं गया अब भगवान तो कंधे पर बैठा है जैसा है अब ये व्यक्ति मुंह से तो दूर ढूंढ रहा आत्मा रुमाल कई बार होता है रुमाल तो देखिए आत्मा वो रुमाल तो का गया सोचता धीरे धीरे वो कैसा भगवान तो मेरे हाथ में तो इसमें बड़ा भारी एक विज्ञान है गहराई व्यक्ति ईश्वर के विषय में जब अन्यथा सोचता है अर्थात ईश्वर के स्वरूप से भिन्न रूप से सोचता तो ईश्वर से उसका संबंध कट जाता ये बड़ी कठिनाई ज्ञान के ठीक न होने देता होता है कहते हैं कि एक ओम का ही पाठ कर लो ओम सर्वरक्षक है और मंत्रों को मत छेड़ो और स्तुति प्रार्थना उपासना सगुण निर्गुण सब प्रकार की करो नहीं नहीं सब की नहीं एक से काम चलेगा ऐसा नहीं है सगुण स्तुति प्रार्थना उपासना अपना प्रभाव डालती है निर्गुण अपना प्रभाव डालती है साकार निराकार ये विविध प्रकार के परमात्मा के स्वरूप का वर्णन होते होते होते होते वो अपने गुणों से सबसे प्रसिद्ध आगे खड़ा होगा और जो उसमें गुण नहीं है उसके कारण से सबसे प्रसिद्ध खड़ा होगा उन्हें सुनिए अपने गुणों से युक्त ईश्वर सबसे अलग हो जाता है अपने गुणों के कारण और अपने अंदर जो उसके अंदर त्रुटियां नहीं है उन त्रुटियों को देखते हुए व्यक्ति ईश्वर को सब बदल मुझे अलग देखता अब जो एक जैसी वस्तुएं हैं बारे बाय ऊपर है ये परिमाण लंबाई चौड़ाई ये इन चीजों में तो सीमित है कितना छोटा इतना बड़ा सूर्य का भी परिमाण सीमित है कितना ही लंबा क्यों न हो पर परमात्मा का परिमाण जो है उसकी लंबाई चौड़ाई बस असीमित है जो असीमित तो देख लेगा वो व्यक्ति तो फिर ऊर्ध जिनसे विभिन्न तो बाका चेतानी देख करके सर्वव्यापक देखने का भी वो प्रयास है इसलिए कहा कि इस रूप में ये देखा जाएगा तो दिखाई देगा और बाय जाए ऊपर नीचे से कोई देखना चाहे एक भाग से तो परमात्मा कुदरती नहीं देख पाएगा आप इसको यहीं पर गिरा